ये वाक़ उस दिन होगा जब अल्लाह फरमाएगा ए ईसा इबन मरियम तुम अपने ऊपर और अपनी वालिदा पर मेरी नेमत याद करो जब मैंने रूहुल कुद्स जबरील सलाम के जरिए तुम्हारी मदद की तुम गहवारे में और बड़ी उम्र में भी लोगों से बात करते थे और जब मैंने तुम्हें किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाई और जब तुम मेरे हुक्म से गारे से एक परिंदे की सी सूरत का पुतला बनाते थे और फिर तुम उसमें फूंक मारते थे तो वो मेरे हुक्म से उड़ता हुआ परिंदा बन जाता था और तुम मादरजाद अंधे और कोड़ के मरीज को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे और जब तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा निकाल खड़ा करते थे और जब मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोक दिया था जब तुम उनके पास वाज निशानियां लेकर आए थे तो उनमें से जिन्होंने कुफ्र किया कहने लगे कि ये तो खुले जादू के सिवा कुछ नहीं